मंजू मैडम के मर्डर के पहले तक विक्रांत ने ब्यूरो चीफ की बात को अनसुना कर दिया वो फिर से आगे बोलने लगा मंजू मैडम उन्नीस वाले किडनैपिंग केस पर काम कर रही थी उन्होंने उस केस में काफी प्रोग्रेस भी कर ली थी और फिर अचानक से उनका मर्डर हो गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि मर्डरर कोई और है और पुलिस साजिद खान के पीछे पड़ी हुई है ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी जिसने मंजू का मर्डर किया है वो उन्नीस के किडनैपिंग केस से भी कनेक्टेड हो तुम्हें ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्यूरो चीफ अमृत ने विक्रांत से थोड़े सख्त लहजे में कहा तुम खुद को समझते क्या हो दो तीन केस क्या सॉल्व कर लिए तुम खुद को बहुत बड़ा जासूस समझने लगे हो क्या सच्चाई को साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है ऐसे तुम्हारे हिसाब से हो सकता है और क्या पता कि भरोसे काम नहीं किया जाता समझे अगर मेरा शक सही है तो विक्रांत ने बिना ब्यूरो चीफ की तरफ ध्यान दिए कहा टीम लीडर मंजू मैडम का मर्डर करने वाला कोई उनका जानकार ही है और वो मंजू मैडम को बहुत करीब से जानता था वो हमारे ही ब्रांच से है कोई हमें जल्द से जल्द इस छुपे हुए घर के भेदी को पकड़ना होगा विक्रांत ब्यूरो चीफ सर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम सस्पेंड हो चुके हो अब तुम मुझे खुद के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मजबूर कर रहे हो तुम्हारी वजह से मैं सुबह से ही दो ऑफिसर्स को डांट चुका हूँ और तुम अभी भी मुझसे बहस किए जा रहे हो अगर ये सच ना होता कि तुमने साजिद को पकड़ा है तो फिर तुम्हें अभी सस्पेंड करने के साथ ही पुलिस कस्टडी में भी रखा गया होता पता है तुम्हें ब्यूरो चीफ साहब विकनाथ ने चिल्लाते हुए कहा उसका टोन चीफ सर से भी ज्यादा हाई था हमारी टीम लीडर मंजू सचदेवा का मर्डर हो जाता है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप जरा सा भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि मंजू मैडम के मर्डर के पीछे की सच्चाई क्या है आपको उनके मर्डर का कोई दुख नहीं है क्या बकवास कर रहे हो तुम ब्यूरो चीफ अमृत ने चिल्लाते हुए कहा मुझे दुख है या नहीं ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है समझे और और अगर मैं सबके सामने बैठकर रोने लग जाऊं तभी मुझे दुख होगा क्या अगर मुझे मंजू के मर्डर की सच्चाई को जानना ना होता तो मैं कमिश्नर साहब से बात करके पूरे शहर की पुलिस को इस केस में ना लगाता समझे पूरे पुलिस फोर्स को लगाने का कोई मतलब नहीं है इससे कुछ नहीं होगा विक्रांत ने जवाब दिया मैं मंजू मैडम के साथ मिलकर किडनैपिंग केस पर काम कर रहा था मुझे सब कुछ पता है केस के बारे में और मंजू मैडम का मर्डर उसी केस से जुड़ा हुआ है अगर मंजू मैडम के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है तो मुझे काम करना होगा क्या चीफ सर ने चिड़ते हुए कहा तुम तुम खुद को समझते क्या हो ये पुलिस डिपार्टमेंट तुम चला रहे हो क्या एक बात मत भूलना तुम ये पुलिस डिपार्टमेंट है तब तुम हो तुम्हारी वजह से ये डिपार्टमेंट नहीं चल रहा समझे तुम पुलिस डिपार्टमेंट के अपने नियम और कायदे होते हैं और वो उसी हिसाब से काम करता है तुम तुम अभी सस्पेंड हो तुम चुपचाप जाकर आराम करो मंजू का कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है अब जाओ यहाँ से get out quick uh Vikrant के लिए अब खुद के गुस्से को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था उसने अपनी टांगे उठाकर जोर से सामने पड़ी टेबल पर मार दी वो टेबल काफी भारी था फिर भी विक्रांत की लात पड़ते ही ये खिसक कर ब्यूरो चीफ अमृत की तरफ चली गई साथ ही टेबल के ऊपर रखा हुआ कॉफी का कप भी टेबल के नीचे जमीन पर गिर गया ब्यूरो चीफ अमृत सन्न रह गए उनके चेहरे का रंग उड़ गया था उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या कहें आप मुझे इन्वेस्टिगेट नहीं करने देंगे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा दिखाता हूँ मैं विक्रांत ने अपनी मिडिल फिंगर अमृत को दिखा दी और फिर वहाँ से बाहर निकलने लगा विक्रांत को गुस्से में लाल होकर बाहर आते देख अमृत के चपरासी ने जल्दी से उठकर गेट खोल दिया वो गेट के साइड में खड़े होकर विक्रांत को बाहर निकलते देख रहा था विक्रांत का बाहर निकलने के बाद भी ब्यूरो चीफ अभी तक शौक नहीं थे सर आप ठीक है प्योन ने अमृत से पूछा अमृत ने कोई जवाब नहीं दिया वो बस मन ही मन यही सोच रहा था कि उसने कहा कि मंजू का मर्डर पुलिस ब्रांच में से ही कोई है कहीं वो मेरी ही बात तो नहीं कर रहा था मुझे सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने विक्रांत इस वक्त काफी गुस्से में था उसने इतनी मेहनत करके साजिद को अरेस्ट किया था और फिर बदले में उसे ब्यूरो चीफ ने इनाम देने की बजाय सस्पेंड कर दिया आखिर मेरे ये सस्पेंशन पीरियड कब तक चलेगा अमृत ने कहा था कि जब तक तुम्हें अगली नोटिस नहीं मिल जाए तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है ऐसे तो अगर मुझे कभी नोटिस आई ही नहीं तो मुझे काम करने को मिलेगा ही नहीं शिट शिट साले अमृत को भी लग रहा मजा चखाना पड़ेगा विक्रांत मन ही मन अमृत को भी परेशान करने का प्लान बनाने लग गया जैसा उसने पुष्कर के लिए सोचा था कुछ वैसा ही प्लान अब वो अमृत के लिए भी बना रहा था विक्रांत को पता था कि ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात बड़े आशिक मिजाज आदमी हैं और वो शादीशुदा भी हैं अगर कोई लड़की उनके पास भेज दी जाए तो फिर अमृत बहुत जल्दी जाल में फंस जाएंगे फिर मजा आएगा उस वक्त विक्रांत के साथ काम करने वाले सभी पुलिस वाले और एजेंट्स काम कर रहे थे लेकिन विक्रांत को ऑफिस से छुट्टी दे दी गई थी तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता था अभी तक विक्रांत ने किसी को अपने सस्पेंशन के बारे में बताया भी नहीं था और ना ही किसी ने अब तक नोटिस किया था भले ही विक्रांत अभी सस्पेंड हो चुका था लेकिन उसे ऑफिस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसके पास जो फोन था उसमें सारी नोटिफिकेशन आ रही थी वहीं से विक्रांत को पता चला कि साजिद की इंटेरोगेशन अभी तक चल रही है लेकिन अभी भी उसने कुछ बताया नहीं है वो सिर्फ इतना ही कह रहा है कि उसे कुछ भी ढंग से याद नहीं है बार बार वो खुद के नशे में धुत होने की बात कर रहा है इस वजह से पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था सारे सबूत साजिद के खिलाफ ही थे और उनसे प्रूव हो रहा था कि साजिद ने ही मंजू का मर्डर किया है ऐसे में साजिद का नाम बोलना पुलिस के काम को और आसान कर देगा पुलिस ने तो साजिद को उसके द्वारा किए गए क्राइम को उससे एक्सेप्ट भी करवा लिया था साजिद को चूँकि सच में कुछ याद नहीं था अगर इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही तो वो फिर बहुत जल्दी साजिद मंजू के कत्ल के इल्जाम को भी स्वीकार कर लेगा और फिर मंजू का मर्डर केस यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा उसके कत्ल के पीछे की सही वजह कभी सामने आ ही नहीं पाएगी